साथ वहां जाएंगे फरिश्ते हर ओर से उनके स्वागत के लिए आएंगे और उनसे कहेंगे तुम पर सलामती है तुमने दुनिया में जिस तरह सब्र से काम लिया उसके कारण आज तुम इसके अधिकारी हुए हो अतः क्या ही अच्छा है ये आखिरत का घर रहे वे लोग जो अल्लाह की प्रतिज्ञा को सुदृढ़ करने के बाद तोड़ डालते हैं जो उन नातों को काटते हैं जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का आदेश दिया है और जो जमीन में बिगाड़ फैलाते हैं वे फिटकार के योग्य हैं और उनके लिए आखिरत में बहुत बुरा ठिकाना है अल्लाह जिसकी चाहता है रोजी कुशादा कर देता है और जिसे चाहता है नपी तुली रोजी देता है ये लोग दुनिया की जिंदगी में मग्न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 माना और अच्छे कार्य किए वे खुशनसीब हैं और उनके लिए अच्छा अंजाम है ए नबी इसी शान से हमने तुमको रसूल बनाकर भेजा है एक ऐसी कौम में जिससे पहले बहुत सी कौमें गुजर चुकी हैं ताकि तुम इन लोगों को वो संदेश सुनाओ जो हमने तुम पर उतारा है इस हाल में कि ये अपने अत्यंत करुणामय ईश्वर के साथ इनकार की नीति अपनाए हुए हैं इनसे कहो कि वही मेरा रब है उसके सिवा कोई पूज्य नहीं है उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की ओर मुझे पलट कर जाना है और क्या हो जाता अगर कोई ऐसा कुरआन उतार दिया जाता जिसके जोर से पहाड़ चलने लगते या जमीन फट जाती या मुर्दे कब्रों से निकलकर बोलने लगते इस तरह की निशानियां दिखा देना कुछ मुश्किल नहीं है बल्कि सारा अधिकार ही अल्लाह के हाथ में है फिर क्या ईमान वाले अभी तक इनकार करने वालों की मांग के जवाब में किसी निशानी के प्रकट होने की आस लगाए बैठे हैं और वे ये जानकर निराश नहीं हो गए कि अगर अल्लाह चाहता तो सारे इंसानों को सीधे मार्ग पर लगा देता जिन लोगों ने अल्लाह के साथ इनकार की नीति अपना रखी है उन पर उनकी करतूतों के कारण कोई न कोई आफत आती ही रहती है या उनके घर के करीब कहीं उतरती है ये सिलसिला चलता रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह का वादा आ पूरा हो यकीनन अल्लाह अपने वादे के विरुद्ध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 सजा कैसी कठोर थी फिर क्या वो जो एक एक जीव की कमाई पर निगाह रखता है उसके मुकाबले में इन दुस्साहसों से काम लिया जा रहा है कि लोगों ने उसके कुछ साझीदार ठहरा रखे हैं ए नबी इनसे कहो अगर वास्तव में वे अल्लाह के अपने बनाए हुए साझीदार हैं तो तनिक उनके नाम लो कि वे कौन हैं क्या तुम अल्लाह को एक नई बात की खबर दे रहे हो जिसे वो अपनी जमीन में नहीं जानता या तुम लोग बस यूं ही जो मुंह में आता है कह डालते हो सच ये है कि जिन लोगों ने सत्य का आमंत्रण मानने से इनकार किया है उनके लिए उनकी मक्कारियां खुशनुमा बना दी गई हैं और वे सीधे मार्ग से रोक दिए गए हैं फिर जिसको अल्लाह गुमराही में फेंक दे उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं है ऐसे लोगों के लिए दुनिया की जिंदगी में भी अजाब है और आखिरत का अजाब इससे भी ज्यादा कठोर है कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें अल्लाह से बचाने वाला हो परहेजगार लोगों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया है उसकी शान ये है कि उसके नीचे नहरें बह रही हैं उसके फल चिरस्थाई हैं और उसकी छाया शाश्वत ये अंजाम है डर रखने वाले लोगों का और सत्य को न मानने वालों का अंजाम ये है कि उनके लिए दोजख की आग है वल्लज़ीन आतैनाहुमुल किताब यफ़रहून बिमा उन्ज़िल इलैक व मिनल अहज़ाबि मन युनकिरु बअदह قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب ए नबी जिन लोगों को हमने पहले किताब दी थी वे इस किताब से जो हमने तुम पर अवतरित की है प्रसन्न हैं और विभिन्न गिरोहों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसकी बातों को नहीं मानते तुम स्पष्ट रूप से कह दो कि मुझे तो सिर्फ अल्लाह की बंदगी का आदेश दिया गया है और इससे रोका गया है कि किसी को उसका साझीदार ठहराऊं अतः मैं उसी की ओर बुलाता हूं और उसी की ओर मेरा रुजू है इसी आदेश के साथ हमने अरबी में ये फरमान तुम पर उतारा है अब अगर तुम उस ज्ञान के होते हुए जो तुम्हारे पास आ चुका है लोगों की इच्छाओं के पीछे चले तो अल्लाह के मुकाबले में न कोई तुम्हारा सहायक है और न कोई उसकी पकड़ से तुमको बचा सकता है तुमसे पहले भी हम बहुत से रसूल भेज चुके हैं और उनको हमने बीवी और बच्चों वाला ही बनाया था और किसी रसूल की भी ये ताकत न थी कि अल्लाह की अनुज्ञा के बिना कोई निशानी खुद ला दिखाता हर युग के लिए ایک کتاب ہے يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده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 से पहले हम तुम्हें उठा लें हर हाल में तुम्हारा काम सिर्फ संदेश पहुंचा देना है और हिसाब लेना हमारा काम है क्या ये लोग देखते नहीं हैं कि हम इस भूभाग पर चले आ रहे हैं और इसकी परिधि को हर ओर से सिकोड़ते चले आते हैं अल्लाह शासन कर रहा है कोई उसके फैसलों का पुनरावलोकन करने वाला नहीं है और उसे हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती इनसे पहले जो लोग हुए हैं वे भी बड़ी बड़ी चालें चल चुके हैं मगर वास्तविक निर्णयकारी चाल तो पूरी की पूरी अल्लाह ही के हाथ में है वो जानता है कि कौन क्या कुछ कमाई कर रहा है और जल्दी ही ये सत्य को ना मानने वाले देख लेंगे कि परिणाम किसका अच्छा होता है ये इनकार करने वाले कहते हैं कि तुम अल्लाह के भेजे हुए नहीं हो कहो मेरे और तुम्हारे बीच अल्लाह की गवाही काफी है और फिर उस व्यक्ति की गवाही जिसे आसमानी किताब का ज्ञान प्राप्त हो